ॐ भद्रं कर्णेभिश्रुयादेवा भद्रं पश्येमाक्षजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनभिर्दशेमदेवयं जयायु ॐ शांति शांति शान्ति अथर्ववेदीय मांडवोपनिषद वैकथ्य प्रकरण के अष्टम कारिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है प्रकरण चल रहा था जागृत को मिथ्या घोषित करना क्यों श्रुति ने कहा शिवम शांतम शिवम अद्वैतम मुंडक नेहना नास्ती किंचन आदि बहुत सारी श्रुति वृद्धागणित है सदैव सौम्य दमग्रे आशी बहुत सारे श्रुतियां हैं अद्वैत के प्रतिपादक प्रतिपादिका सिद्धि है तो श्रुति सिद्ध जो अद्वैत है उसको युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है इसको लेकर के ये वैतथ्य प्रकम का आरंभ किया गया युक्ति सिद्ध अनुमान आदि से भी सिद्ध होता है कि ये द्वैत मिथ्या है जागृत द्वैत मिथ्या है इसके लिए अनुमान देने के लिए पहले दृष्टांत सही होना चाहिए दृष्टांत जैसा होगा वैसे यह सिद्ध करना है इसलिए स्वप्नों को विशेष रूप से मिथ्या घोषित किया पहले क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास और पहाड़ पर्वत रहने का स्थान नहीं है नाड़ी के भीतर में ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है अगर वास्तविक हो तो संभव नहीं है यह सब हेतु देकर के कहा स्वप्न मिथ्या है उसी स्वप्न के समान जैसे वहां दृश्यत्व हेतु बैठा है स्वप्न में जागृत में भी दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है माने इंद्रियों का विषय हो जाता है इसलिए जागृत भी मिथ्या है ये जागृत के विषयों को मिथ्या घोषित किया स्वप्न दृष्टांत देकर एक तो दृश्यत्व हेतु को देकर किया दूसरा आद्यंत तो भी है इसमें जैसे स्वप्न के पदार्थ आदि हैं या प्रादिभाषिक सत्ता वाले जो रज्जु सर्प आदि हैं वो आद्यंतवान हैं आदि वाला अंत वाले हैं उत्पत्ति के पहले भी नहीं है नाश के बाद भी नहीं ठीक इसी प्रकार एक जागृत के विषय भी सारे ऐसे ही हैं कोई भी देखे कोई भी वस्तु चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो कहीं भी हम दृष्टि डाले तो सब के सब ऐसे हैं चेतन माने चेतना चेतन जो मा, माना जा रहा है व्यवहार में जो चेतन माना जाता है शरीर आदि सब ऐसे ही उत्पत्ति विनाशशील है तो जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वो मिथ्या ही होता है देखा कहाँ रज्जु सर्प आदि में देखा है रज्जु में सर्प उत्पन्न होता है किंतु वो विनाशी भी है वो मिथ्या है वो सभी मानते हैं उसको ठीक इसी प्रकार जागृत भी मिथ्या है ये बातें यहां पर चल रही थी तो पूर्व पक्षी आकर के कहा स्वप्न मिथ्या होता है करके जो आपने कहा वो ठीक नहीं है कुछ स्वप्न ऐसे हैं सत्य होते हैं स्वप्न का अर्थ है पूर्व दृष्ट पदार्थों का स्मरण चाहे ईश्वर का हो चाहे पूर्वजनक हो जैसा भी हो पूर्वदृष्ट संस्कार है उसके वासना के आधार पर स्मरण होना है स्वप्न वही है किंतु यहाँ कुछ अपूर्व दृष्ट पदार्थ होते हैं पूर्व में जिसको देखा नहीं है ऐसे पदार्थ भी दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में तो उसको कैसे मिथ्या घोषित करेंगे तो स्मरण रूप हो वो तो चलो मिथ्या मान लेंगे किंतु जो स्मरण नहीं है स्वप्न में ही दिखाई पड़ता है पहले कभी हमें दर्शन नहीं हुआ ऐसे पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वास्ते हैं उसको कैसे मिथ्या कहेंगे स्वप्न सत्य है ये तर्क लेकर के पूर्व पक्ष सामने आया उसके उत्तर में यह अष्टम कारिका है जो उत्तर दे रहे हैं कारिका में यही कहा था ठीक है कहा दृष्टांत से साध्य विकल्प परिहर परिहरती दृष्टांत दिया था जागृत को मिथ्या घोषित करने के लिए स्वप्न का किंतु पूर्व पक्ष की शंका है दृष्टांत में साध्य नहीं है साध्याभाव है से भी दृष्टांत जिसको दृष्टांत देकर के आप मिथ्यात्व जागृत में सिद्ध करना चाहते हैं वहीं मिथ्यात्व नहीं है स्वप्न में ऐसे पदार्थ हैं अभी भाष्य आदि में चर्चा करेंगे स्वप्न तो मिथ्या नहीं है साध्य विकलत्व माने साध्य अभाव दोष जब दृष्टांत में साध्य न हो तो पक्ष में साध्य कैसे मानेंगे ये पूर्वादि की शंका है इसका खंडन तैयारिका में कहा अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासी नाम तान अयम प्रेक्षते गत्वा यथ यह सुशिक्षित जो अपूर्व स्वप्न होता है माने पूर्व दृष्ट नहीं है वहीं स्वप्न में दिखाई पड़ा उसको अपूर्व कहा बाकी स्वप्न तो पूर्व दृष्ट है पूर्व दृष्ट होते हैं अपूर्व दृष्ट है वहीं दर्शन होता है जागृत में कभी दर्शन नहीं हुआ ऐसा स्वप्न वो स्थानीय का धर्म है स्वप्न दृष्टा जो स्थानीय है स्वप्न अवस्था वाला स्थानीय स्वप्न दृष्टा उसका धर्म है उसके द्वारा दृश्य है वो जो अपूर्व दिखाई पड़ता है उसका दृश्य ही होता है तो दृश्य तो वहां बैठा हुआ है यही कहना चाहते हैं स्थान धर्म वो वास्तव में स्थानी नहीं है वो स्वप्न दृष्टा नहीं है स्वप्न में जो वस्तु दिखाई देते हैं स्वप्न दृष्टा स्थानीय नहीं है वो उसका धर्म है यथा स्वर्ग निवासी नाम जैसे स्वर्ग निवासी देवता आदि हैं जैसे इंद्र का एक हजार आंख आदि की चर्चा है अक्षय की चर्चा है तो क्या है वो इंद्र करके जो इंद्राभिमानी देव है उसके वो धर्म है शास्त्राक्षत्व आदि वास्तव में उसका स्वरूप नहीं है तो खानी का स्वरूप नहीं है वो कल्पित है मिथ्या है एक तान अयम प्रेक्षते गत्वा यथेवेश सुशिक्षित उन अपूर्व पदार्थों को देखता है वहां जाकर के स्वप्न अवस्था में जाकर के स्वप्रवृत्ति का सहारा लेकर ये प्रमाता वहां देखता है यथा एवं यह सुशिक्षित जैसे सुशिक्षित व्यक्ति है ये मार्ग के बारे में जानकारी रखता है एक अपूर्व स्थान में भी मार्ग के बारे में समझदार व्यक्ति होगा कोई बता देगा इस मार्ग से जाना तो गया है वो तो मार्ग को सुशिक्षित सुशिक्षित जो व्यक्ति होगा वो अपूर्व दर्शन करके आ जाता है जैसे यहाँ व्यवहार भूमि में ऐसा दिखाई पड़े वैसे वहां भी स्वप्न में तो प्रतिदिन जाता ही है उसको जाने की कला है उसके पास तो वहां जाकर के अपूर्व को देख लेता है वो स्थानीय नहीं है स्थानीय धर्म है ठीक है ठीक है देखें यथा स्वर्ग निवसन शीला नाम इंद्रादि नाम जैसे स्वर्ग में निवास करना जिनका स्वभाव बन गया इंद्रादि देव है निवसन शीला नाम निवास करना ही स्वभाव बन गया जिनका वहीं रहते हैं ऐसे इंद्रादि देवता है उनका तो धर्म सहस्राक्षत्व आदि हजार आदि धर्म है इंद्र का हजार इत्यादि धर्म है तथा उसी प्रकार यहां भी समझना यदि हम अपूर्वम स्वप्न दर्शन मनुष्य ये जो अपूर्व दिखाई पड़ता है स्वप्न में तुम कहते हो स्वप्न दर्शन होता है बोलते पूर्वादि को समझा रहे हैं तथा तथा इदम अपूर्व स्वप्न दर्शन जो अपूर्व स्वप्न दर्शन मानते हो स्वप्न दर्शन का अर्थ दर्शन मान दृश्य थे जो अपूर्व स्वप्न दिखाई पड़ता है चित्र अपूर्व स्वप्न दिखाई पड़ता है मान जागृत का संस्कार रहित एकाएक आ रहा है ऐसा स्वप्न को अपूर्व ये जो दिखाई पड़ता है ऐसा मानते हो मन्य से तुम तुम ऐसा मानते हो सिद्धांत गुरुवायु जी कह तदपि स्थान यहां स्वप्न स्थान हो तो द्रष्टु धर्म वो भी स्थानीय ही धर्म है जो स्वप्न स्थान वाला दृष्टा है स्वप्न दृष्टा उसका धर्म है अपूर्व दर्शन दृष्टा का धर्म है तेरह दृष्टत्वाद तस्य मिथ्या प्रसिद्धि उसके द्वारा दृश्य हो गया वो स्वप्न दृष्टा के द्वारा दृश्य हो गया वहां भी दृश्यत्व अभ्यास हेतु है जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा पहले सिद्ध करके आए हैं वो भी दृष्टों में जो अपूर्व दिखाई पड़ता है वो दृश्य को दृष्टा नहीं है ये न दृष्टत्वा स्वप्न द्रष्टूर दृश्यत्व स्वप्न द्रष्टा दृश्यत्व स्वप्न द्रष्टा के द्वारा दृश्य है वो स्वप्न द्रष्टा के द्वारा दृश्य है उसमें मिथ्यात्व की सिद्धि होती है प्रथम तेन दृष्टत्व तथा उसी स्वप्न दृष्टा के द्वारा ही कैसे दिखाई पड़ता है अपूर्व धर्म जो दिखाई पड़ता है कैसे होगा उसके लिए कहा कान अयम प्रेक्षते गत्वा ये जो जागृत काल में रहने वाला जो प्रमाता था वही स्वप्न अवस्था में चला जाता है वहां जाकर के देखता हूं कान अयम प्रेक्षते गत्वा गत्वा प्रेक्षते देखता यथैव यह सुशिक्षित है जैसे व्यवहार भूमि में सुशिक्षित व्यक्ति को मार्ग के बारे में जानकारी है वहां जाने का ये मार्ग है वहां जाता है तो कभी गया नहीं था ऐसे स्थान का दर्शन करके अपूर्व दर्शन कर लेता है ठीक इसी प्रकार वहां भी कर लेता है दृश्य कोटि नहीं होता है हम कहते हैं यथा एवं यह व्यवहार भूमो एवं यह का था व्यवहार भूमि जागृत अवस्था में व्यवहार भूमो व्यवहार भूमि सुशिक्षितो देशांतर प्राप्ति मार्ग देशांतर प्राप्ति के मार्ग में शिक्षित है देशांतर को देखा नहीं है ऐसा व्यक्ति है कोई जैसे बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता किसी के द्वारा मालूम कर लिया है बद्रीनाथ देखा नहीं है तो व्यक्ति जाकर के अपूर्व देखेगा पूर्व देखेगा अपूर्व को देखेगा देखा नहीं था कभी ठीक इसी प्रकार होता यथा एवं यह व्यवहार भूमो इस व्यवहार भूमि में व्यवहार भूमो व्यवहार दशा है मान व्यवहार काले व्यवहार काल टिप्पणी में कहा व्यवहार काल सुशिक्षित हो देशांतर प्राप्ति मार्ग देशांतर प्राप्ति के मार्ग के बारे में शिक्षित है सुशिक्षित है अति शिक्षित व्यक्ति है तेन मार्ग न देशांतर गत्वा उस मार्ग के द्वारा अन्य देश में जाकर के तत्रत्यान पदार्थान विकसित है वहां होने वाले तत्र भव तत्रत्य अव्ययाद्यप्य सूत्र है तत्रत्यान पदार्थान विकसित वहां होने वाले विषय को देख लेता है तथा इसी प्रकार अयम स्वप्न दृष्टा यह स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्नगतान पदार्थान यथोक्त प्रकारान प्रत्यक्ष थे स्वप्नगत जो पदार्थ हैं विषय हैं यथोक्त प्रकारान जो सहस्त्राक्षात्वादि जितना भी जो कुछ होगा यहाँ पर चार हाथ चार दांत वाला हाथी में सवार होना अपने को अष्टभुजा मानना इत्यादि भाषा में कहेंगे इस प्रकार के स्वप्न स्वप्न को प्राप्त करता है पांच की टिप्पणी मृग तृष्णा तुल्यान है यथोक्त प्रकार हमने जैसे मरुभूमि के जल मिथ्या है उसी प्रकार ही है स्वप्न ये जो अपूर्व दर्शन भी उसी प्रकार है मृग तृष्णा तुल्यान अच्छा ततश्च स्वप्न से स्थानीय धर्मत्वाद रज्जु सर्पाधिपत मिथ्यात्व इसलिए क्या सिद्ध हुआ स्वप्न से स्थानीय धर्मत्वाद वो स्थानीय नहीं है स्वप्न दृष्टा नहीं है स्वप्न दृष्टा के द्वारा देखा जाता है इसलिए स्वप्न से स्थान धर्मत्वाद रज्जु सर्पाधिपत मिथ्या जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान होता है वो रज्जु नहीं है रज्जु का धर्म है जो दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार है ये रज्जु तो नहीं है वो देखने वाले व्यक्ति का स्वरूप भी नहीं रज्जु भी नहीं ठीक इसी प्रकार है ततश्चे नाड़ीस्थ दृष्ट दृश्यत्वाद नाड़ी में स्थित है दृष्टा उस काल में हिता नाम के नाड़ी में पड़ा हुआ है स्वप्न अवस्था में तो उसके द्वारा दृश्य होता है वही देखता है परमात्मा नाड़ीस्थ दृश्यत्व नाड़ीस्थ जो दृष्टा है उसके द्वारा दृश्यत्व दृश्य है प्राप्त इसलिए स्थानीय धर्म ही हो गया तो रज्जु सर्प आदि पर मिथ्या रज्जु सर्प आदि के समान मिथ्या ही सिद्ध हो जाएगी तो धर्म होगा दृश्य होता है जो दृश्य होता है मिथ्या होता है जैसे रज्जु सर्व मिथ्या है श्लोक व्यावत्याम आसंज्ञाम उपनिषद ये कारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका है उसको पहले रखते हैं भाष्य पूर्व पक्ष शंका करेगा भाष्य में शंका उठाएगा जिसके लिए कारिका की आवश्यकता है भाष्य में कहा स्वप्न जागृत भेद हो सवंत्वाद जागृत नाम असत्वम यदि यदुत्तम तद असत्य आपने जो पहले कहा था पूर्व पक्ष बोलता है आपने कहा था सिद्धांत जी ने स्वप्न जागृत भेद दोनों दो प्रकार के विषय हैं एक स्वप्न भेद एक जागरण भेद दो तो भेद है विषय है समत्वाद समान है चाहे स्वप्न के विषय हो चाहे जागृत भी समान है ऐसा कहा था समान समत्वाद जागृत भेदाना असत्व स्वप्न के विषय के समान होने के कारण जागृत के विषय भी असत है ये आपका कहना है यदि कम तद असत वो ठीक नहीं है सिद्धांत पूछते हैं तस्मात क्यों भाई क्यों ठीक नहीं है एक अस्मात सिद्धांत का प्रश्न है क्यों ठीक नहीं हमने जो कहा वो तो कहता है दृष्टांत से सिद्धत्व आपने स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत को मिथ्या कहा था वो दृष्टांत सिद्ध नहीं है स्वप्न सत्य है उनको अपूर्व देखता हूं दृष्टांत से सिद्धत्व दृष्टांत जो जागृत को मिथ्या घोषित करने के लिए स्वप्न दृष्टांत दिया गया वो असिद्ध है सिद्ध नहीं है कहा सिद्धांत घोषणा कैसे असिद्ध है भाई तो पूर्व पक्ष बोलता है नहीं जागृत दृष्टा ये वे थे वेदा स्वप्न दृष्टि जैसे जागृत में देखा था वही पदार्थ वहां स्वप्न में दिखता है ऐसी बात नहीं है अन्य भी दिखाई पड़ता है जो जागृत में कभी देखा ही उनको भी देखता है नहीं जागृत दृष्टा ये वे थे भेदा ये जो विषय है स्वप्न के विषय कितने भी जागृत में देखे जाने वाले विषय ये स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं ये बात नहीं ही सिद्धांत को तो फिर क्या देखता है वहां किमतरी सिद्धांत का प्रश्न है तो उत्तर देता है पूर्व पक्ष अपूर्वम स्वप्न पश्यति एक अपूर्व पदार्थ है न पूर्व न पूर्व दृष्ट नहीं है ऐसे को अपूर्व कहा है न विद्यते पूर्वम जैसे तद अपूर्वम पहले नहीं है कुछ स्वप्न तो ऐसे पूर्व वाले हैं माने सपूर्व होते हैं और ये अपूर्व है अपूर्व भी दर्शन होता है सपूर्व और अपूर्व दो प्रकार के स्वप्न करके बोलना चाह रहा है कुछ तो है मिथ्या मान लेंगे तो ये कैसे हो कौन अपूर्वम स्वप्ने पश्यति अपूर्व को देखता है यानी जागृत में कभी देखा नहीं है अनुभव किया नहीं है ऐसे विषयों का भी अनुभव करता है स्वप्न क्या है वो चतुर्गंतम गजारूढ़ चार दांत वाले हाथी में अपने को आरूढ़ समझता है चार दांत वाला हाथी तो होता है ना दो दांत होते हैं हाथी के और कभी जागृत में चार दांत वाला हाथी देखा नहीं उसका संस्कार है ही नहीं उसके पास वही दिखाई पड़े चतुर्दंतम गजारूढ़ चार दांत वाला जो गज है हाथी है उसमें आरूप आता है हाथी के ऊपर बैठा है ऐसा मानता है और अष्टभुजम अपने का आठ हाथ है जागृत में तो दो हाथ वाला ही होता था कभी भी संस्कार तो यही है किंतु वहां स्वयं अष्टभुजा वाला और चार दांत वाले हाथी के ऊपर बैठा हुआ ऐसा अनुभव करता मन्य दे ऐसा मानता है स्वप्न दृष्टा उसका ऐसा स्वप्न आ जाता है अन्यथा भी इस प्रकार और भी बहुत सारे दिखाई देता है पड़ता है स्वप्न स्वप्न दृष्टा बहुत सारे विषयों को देखता है अन्यथा भी एवं प्रकार अपूर्वम पश्यति स्वप्न इसी प्रकार का अन्य भी बहुत सारे अपूर्व देखता है माने अपूर्व और सपूर्व दो स्वप्न होता है कहना चाह रहा है पहले देखा हुआ को भाषण वो सपूर्व होगा और कभी देखा नहीं है कभी अनुभव नहीं किया ऐसे विषयों का दर्शन होना जैसे चार दांत वाले हाथी में सवार होना कभी जागृत में है ही नहीं वो संस्कार नहीं है और अपने को आठ भुजा वाला माना आठ हाथ वाला माना ये भी जागृत का संस्कार नहीं है फिर भी वहां पर ऐसा अनुभव करता है तो यह अपूर्व है ये पूर्वादि बोलता है तत्र स्थिति में जब वो अपूर्व पदार्थ देख रहा है तत्र अन्य असता समित सरेगा न तन्ना वह जो है न अन्य असता असमम जो रज्जु सर्प आदि के समान असत है कह देना जैसे रज्जु सर्प आदि के समान अन्य के साथ उसको असत कहना ठीक नहीं तम न अन्य असता समम इति सदैव सदैव वो सत है वो स्वप्न तो उसको मिथ्या कैसे सिद्ध करेंगे आप वो मिथ्या हो तो उसको लेकर के जागृत को मिथ्या तब तो घोषित करते सत्य है वो अन्य दो भी टिप्पणी अन्य असता मने रज्जु भुजंगादि नाम जैसे रज्जु में भाषने वाले सर्प आदि के समान तो नहीं है वो वो तो सत्य है वो वो स्वप्न अपूर्व है ये कहा अतो दृष्टांत असिद्ध इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया था जागृत को मिथ्या घोषित करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया स्वप्न मिथ्या ही करके स्वप्न मिथ्या हो ही नहीं पा रहा क्यों अपूर्व दिखाई पड़ता है वैसे मिथ्या होगा जागृत वासना से संस्कारित होकर के जो दिखे वो तो, तो मिथ्या मान लेंगे किंतु जो अपूर्व दर्शन स्वप्न होता है मिथ्या नहीं हो सकता इसलिए अतो दृष्टांतो असिद्ध भाषण का ऐसे जो दृष्टांत दिया आपने जागृत को मिथ्या घोषित करने के लिए स्वप्न वो असिद्ध है तो मिथ्या है करके कहा था वो सिद्ध नहीं तस्मात पूर्वादि और आगे बोलता है तस्मात व जागृत से असत्व इति अयुक्त हाँ, जब दृष्टांत सिद्ध नहीं हो पाया तो जैसे स्वप्न असत है उसी प्रकार जागृत भी असत है ये कहना ठीक नहीं है ये पूर्वाधिक का तस्मात स्वप्नबद्ध जैसे स्वप्न मिथ्या है जागृत से अभी असत्वम यथा स्वप्न असत्वम उसी प्रकार जागृत भी असत है इति अयुक्तम ऐसा कहना ठीक नहीं पूर्व पक्ष हो गया पूरा आगे सिद्धांत उत्तर देता न ये बात नहीं भाई ऐसी बात नहीं है स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम यद मन्य से स्वप्न में दिखाई गया जो अपूर्व जो तुम मानते हो तुम्हारी मान्यता है चतुर्दंत हाथी वाले में बैठने वाला अष्टभुजा वाला मानते हो स्वप्न में ऐसे दिखाई पड़ता है कहते हो न तत्स्वतः सिद्धम वो स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं है स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं है क्यों कर ही पूर्व पक्ष बोलता फिर क्या है स्वतः सिद्ध नहीं है तो स्वप्न में जो बास का है अपूर्व वो स्वतः सिद्ध नहीं तो क्या है किम ही तब क्या है तो कहते हैं अपूर्वम स्थानीय धर्मो होगी अपूर्व है स्थानीय का धर्म है वो स्थानीय धर्म स्थानीय धर्म ये ष्ठी समाज होगा अपूर्वम स्थानीय धर्म ही यस्मात स्थानीय द्रष्टुरे वही स्वप्न स्थान भूत स्वप्न स्थान बतो धर्म जो दृष्टा है स्वप्न स्थान वाला दृष्टा स्वप्न स्थान बता स्वप्न स्थान वाला मतुप लगाया स्वप्न स्थानवान जो दृष्टा है वो दृष्टा का धर्म है स्वप्न स्थान वतो धर्म स्वप्न स्थान वाला जो स्वप्न दृष्टा है उसका धर्म है यथा स्वर्ग निवासी नाम दृष्टांत दिया जैसे स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादि नाम इंद्रादि देवों की स्थिति हो जाती है जैसे सहस्राक्षरवादी तथा स्वप्न दृश्यो अपूर्व अयम धर्म हजार आंख वाला आदि इंद्र के बारे में चर्चा है वो इंद्र का धर्म है इंद्र नहीं है वह इंद्र माने जो शरीर का अभिमानी का धर्म है इंद्रत्व का अभिमान करने वाले का आत्मा का धर्म है न कि वो स्वयं धर्मी है तथा स्वप्न दृश्यो अपूर्व अयम धर्म उसी प्रकार है दृश्य है दृष्टा के द्वारा दृश्य है इंद्र को दिखाई पड़ता है मेरे एक हजार आंख है मैं आंखों नहीं बोलता इंद्र मेरे आंखें बोलता है ठीक इसी प्रकार जो अपूर्व है ये भी स्वप्न दृष्टा का धर्म है न स्वतः सिद्धो द्रष्टु स्वरूपवत जैसे दृष्टा का स्वरूप स्वतः सिद्ध पदार्थ है आत्मा देखने वाला जो दृष्टा है स्वप्न दृष्टा आत्मा का स्वरूप जैसे स्वतः सिद्ध है उस प्रकार स्वतः सिद्ध ये नहीं है तो की दृष्टांत है जैसे दृष्टा का स्वरूप स्वतः सिद्ध है उस प्रकार ये नहीं है तान एवं प्रकारान पूर्वान अपूर्वान तो इस प्रकार के जो अपूर्व है स्वप्न में जाकर के देखता है वो व्यक्ति तान एवं प्रकारान अपूर्वान एवं प्रकारान चतुर्दंत आदि जो जो दृष्टांत दिया है तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान अपने चित्त में ही विकल्प है कल्पना है स्वप्न दृष्टा की कल्पना है वह सचित्त विकल्पान अयम स्थानी ये जो स्वप्न दृष्टा है स्थानीय उस काल में स्वप्न देख रहा है जो आत्मा तो अयम स्थानी स्वप्न दृक जो स्वप्न दृष्टा स्थानीय है वहां स्वप्न स्थानम गत्वा प्रेक्षते उन विषयों को स्वप्न स्थान में जाकर के देखता है जैसे बद्रीनाथ जाकर के कोई व्यक्ति यहाँ वहां पहुंच कर देखता है वैसे जागृत में था प्रमाता बन के देख रहा था और स्वप्न में जाकर के देखता है उन विषयों को वहां जाकर जागृत से चला जाता है स्वप्न में वहां जाकर के उन कृष्णों को दर्शन करता है कैसे जाता है तो कहा यथव यह लोके सुशिक्षित हो देशांतर मार्ग ऐसा कोई श्लोक में मैंने व्यवहार दशा में व्यवहार काल में जागृत अवस्था में ऐसा दिखाई पड़ता है सुशिक्षित है अति सुशिक्षित है मार्ग के विषय मार्ग जानकारी है मार्ग के बारे में जानकारी है ऐसा व्यक्ति देशांतर मार्ग देशांतर मार्ग अन्य देश में जाने का मार्ग क्या है उसको जानता है ऐसा व्यक्ति मार्गे मार्गेण देशांतरम गत्वा उसी मार्ग के द्वारा जिस देश में था उस देश से भिन्न देश में जाकर अन्य देश में जाकर तान पदार्थान पश्यती उस देश में होने वाले जो विषय होंगे उसको देखना है तद्वत उसी प्रकार समझना है स्वप्न में भी जो अपूर्व दर्शन वैसा है तद्वत उसी प्रकार है तस्मात यथा स्थानीय धर्माणाम रज्जु सर्ववृक तृष्णिकादी नाम असत्व जैसे स्थानीय के धर्म है रज्जु में सर्प दिखना रज्जु का धर्म है और क्या हो हानि रज्जु है वो और क्या माना जाए उसको हाँ। यथा हानि धर्म रज्जु सर्प रज्जु में भासने वाला सर्प अथवा मृग दृष्टि का रेत में भासने वाला जल इत्यादि असत्व जैसे असत है स्थानीय के धर्म होने के कारण असत्य है असत्व है रज्जु उस रूप में दिख रही रज्जु नहीं हो धर्म है ठीक इसी प्रकार तथा स्वप्न दृश्याणाम अपूर्वाम स्थान धर्मत्व इति असत्व इसलिए स्वप्न में दृश्य जो अपूर्व हैं वह भी स्थानीय के धर्म स्थानीय धर्म ही है वो इसलिए स्थानीय धर्म होने से असत्व असत्व है असत्व ही है वो अतो न स्वप्न दृष्टांत से असिद्धत्व इसलिए स्वप्न दृष्टांत को तुमने जो असिद्ध घोषित किया वो बन सकता असती है वो ठीक है समत्व आद्यंत आद्यंतवत्वादी भाष्य में पूर्व पक्षी के शंका में किया था स्वप्न जागरण वेद समत्वाक समान होने से कहा था समत्व माने के आद्यंतवादी आदि अंतवत्व धर्म स्वप्न में भी जागृत में ऐसा करके आपने कहा था जागृत असत है कहा था ये कैसे हो सकता है पूर्वादि का कहना है समत्व का था आद्यंतवत्वादि आद्यंतवत्वादि धर्म समत्व अनुमान सिद्ध से अर्थ से अनुमान दोषो की मंत्रण असत्व अयुतम प्रसिद्ध सिद्धांत पूछते हैं भाई हमने अनुमान से सिद्ध किया है तो अनुमान से सिद्ध करने के लिए आपको अनुमान में दोष देना पड़ेगा दोष देंगे तो मानेंगे हम उसमें हमारे हेतु को हेत्वाभाष बनाओ विचार सिद्ध करो हेत्वाभाष बनाओ तब मानेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे अनुमिति हो रही है जैसे स्वप्न वैसे जागृत ये सिद्धांत पूछते हैं कस्मात करके पूछते हैं ना सिद्धांत यही बात है अनुमान सिद्ध से अर्थ से अनुमान से सिद्ध हुआ है स्वप्न मिथ्या है और अनुमान दोषोक्ति मंत्र जब स्वप्न को दृष्टांत दे करके स्वप्न को मिथ्या घोषित करके जागृत को तो हमने अनुमान से सिद्ध किया है मिथ्या घोषित किया है तो अनुमान में दोष दिए बिना दोषोक्ति कथन दोष के कथन के बिना असत्वम अयुक्तम जो असत कह देना ठीक नहीं है तो अयुक्तम कहना ठीक नहीं है असत को जो ऐसा कहना ठीक नहीं है यदि पृथ्वी सिद्धांत पूछते हैं अकस्मात क्यों भाई क्या गड़बड़ हो गया अनुमान में तो कहते हैं आगे व्याप्ति भूमि दोष है व्याप्ति भंगम दोष अरे बाबा व्याप्ति में ही दोष है यत्र यत्र हेतु तत्र तो साध्य होना चाहिए व्याप्ति यही है सहचार नियमो व्याप्ति आई गई बोलते हैं यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य हेतु क्या है दृश्यत्व और इसमें साध्य है मिथ्यात्व जो मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए दृश्यत्व तो दिया हुआ है तो कहते हैं व्याप्ति भूमि दूषण व्याप्ति के स्थान ही दूषित कर देता है ऐसा मिथ्यात्व नहीं है वहां दृश्यत्व है मिथ्यात्व नहीं है कहना चाहता है दृष्टांत में साध्य नहीं है माने अपूर्व दर्शन दृश्य तो है किंतु मिथ्या नहीं है क्यों मिथ्या कैसे गए कि कभी देखा ही नहीं पहले देख रहा हो ये पूर्वादि का कहना है व्याप्ति भूमि दूषयन व्याप्ति भंगम दोष तो माने अनुमान में दोष क्या है व्याप्ति नहीं हो पाना व्याप्ति नहीं होगी तो आगे अनुमति नहीं हो पाएगी अनुमान के माध्यम से अनुमति नहीं होगी ये पूर्वादि का कहना है सात की टिप्पणी व्याप्ति ग्रह स्थलम व्याप्ति भूमि माने व्याप्ति ग्रह का स्थान कौन होता है व्याप्ति ग्रह का स्थान दृष्टान्त होता है यत्र यत्र दोनों तत्र तत्र बनी यथा महानसम दृष्टान्त स्थल होता है तो व्याप्ति भूमि का अर्थ व्याप्ति ग्रहस्था फलम दृष्टान्तम ये दृष्टान्त है उसी को दोष दे देता है वहां दृश्यत्व तो है मिथ्या तो नहीं है ऐसा स्थान है ये कहा ठीक है असिद्धत्व प्रश्न पूर्वक विषय रहेगी असिद्ध कैसा है सिद्धांति पूछेंगे भाई कैसे व्याप्ति स्थल ज्ञान का स्थल असिद्ध है दृष्टांत विकल्प कैसे साध्य है तो प्रश्न पूर्वक विस्तार करता है पूर्वादि विस्तार करता है महाराज आपके अनुमान में यह व्याप्ति ज्ञान नहीं होता है साहचर्य नहीं क्यों कथम सिद्धांत ने पूछा तो पूर्वादि बोलता है नहीं जागृत दृष्टा एवं एक वेदा स्वप्न दृष्टि थे जो जागृत में देखे गए जो विषय वही विषय स्वप्न में दिखाई पड़ते ये बात नहीं किमतर ही सिद्धांत पूछते फिर क्या है भाई विशेष क्या है तो उत्तर दिया अपूर्व स्वप्न पश्य कुछ अपूर्व सपूर्व में अपूर्व अधिकतर तो सपूर्व होगा पहले देखा हुआ को बाद में देखता है उसको सपूर्व बोलेंगे और ये कभी देखा नहीं है ऐसे को देखता है तो अपूर्व न बीतते पूर्व में से अपूर्व तद अपूर्व जिसका पहले नहीं है ऐसा है स्वप्न ये कहा कथम करके पूछा उत्तर देता है ठीक है अपूर्व दर्शन में एक थे अपूर्व दर्शन कैसा है वो स्वप्न ऐसा स्वप्न होता है जो पहले देखा नहीं है जागृत में कभी अनुभव किया ही नहीं ऐसे स्वप्न होता है वो कैसे है तथा चतुर्दंतम गजारूढ़म अष्टभुजम आत्मान मन्य ऐसा स्वप्न होता है कभी अपने को ऐसा मानता है चार दांत वाले हाथी के ऊपर सवार हुआ मानता है और आठ हाथ से युक्त अपने को मानता है ऐसा स्वप्न हो जाता है तो वो पूर्व दर्शन तो है ही नहीं उसको मिथ्या कैसे कहें ये कहना है अपि अन्य एवं एवं भाषण का अति अपि अन्य अन्य अभी एवं प्रकार अपूर्व पश्चिमी स्वप्न इस प्रकार के और भी है कई स्वप्न दिखाई पड़ता अपूर्व दर्शन होता है तन न असते न तन न अन्य न असता समम इति सदैव इसलिए वो अन्य असत रज्जु सर्पादी के समान असत नहीं कर सकते उसको वो सत है वो स्वप्न उस स्वप्न को असत नहीं कर सकते गुरुवादी का अतो दृष्टांत असिद्ध इसलिए आपने दृष्टांत दिया स्वप्न को जागृत मिथ्या करने के लिए असिद्ध हो गया व्याप्ति भंग हो गया दोष आ गए अनुमति नहीं होगी जागृत मिथ्या ये कहना बनेगा नहीं ये कहा ठीक है अन्य भी त्रिनेत्री त्रिनेत्रत्वादी स्वप्न में कभी कभी अपने को तीन आंख वाला पाता है तीन नेत्र से युक्त पाता है ऐसा भी है तो उसको क्या सपूर्व है कि अपूर्व है वो अपूर्व है ऐसा पाता है दृष्टांत से साध्य विकल्प सिद्धे दृष्टांत में साध्य का अभाव है दृष्टांत स्वप्न है जागृत को मिथ्या घोषित करने के लिए वेदांत के पास दृष्टांत गया तो स्वप्न है वहां असत्य नहीं है ये साध्य विकल्प दोष दृष्टांत से साध्य विकल्प सिद्धे साध्याभाव विकल्प ने अभाव साध्याभाव को सिद्ध होने पर प्रागुत अनुमान अनुपत्ति तो आपने जो कहा था जागृत मिथ्या दृश्यत्व स्वप्नवत दृष्टांत दिया था स्वप्न को अथवा जागृत मिथ्या स्वप्नवत आद्यंतवत्वा यही दो प्रकार के अनुमान आते थे दोनों में वहां स्वप्न सत्य हो रहा है इसलिए दृष्टांत से साध्य विकलत्व सिद्ध दृष्टांत में जो साध्य नहीं साध्य अभाव सिद्ध हो गया प्रागुप्त अनुमान अनुपत्ति इसलिए स्थिति में पहले जो आपने अनुमान दिया था जागृत मिथ्या हाँ, दृश्यत्व स्वप्नवत यह अनुमान की युक्ति संगत नहीं है अनुमान होने वाला नहीं अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते इति फलितमाह इसमें कहा तस्मात करके भाष्य में पूर्व पक्ष बोलता है तस्मात स्वप्नवत जागृत से असत्व अयुक्तम स्वप्न के समान जागृत असत है ये कहना ठीक नहीं है जैसे स्वप्न असत है उसी प्रकार जागृत असत है आपका आपकी जो घोषणा है वो ठीक नहीं है क्यों स्वप्न सत्य हो गया हमने जो बताया ठीक है दृष्टानता सिद्धि दूसरे अनुमान साधे उसी अनुमान को सिद्ध करते हैं हमारा अनुमान सही है सिद्धांत कहते हैं दृष्टांता सिद्धि को दोषण देते हैं दृष्टांत असिद्ध में दृष्टांत सिद्ध है स्वप्न को जो दृष्टांत दिया उसमें असिद्धि दोष लगने वाला नहीं सिद्ध है दृष्टांत में हमारा साध्य है साध्य अभाव में साध्य है मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है ये कहना चाहते क्यों वो जो अपूर्व दिखाई पड़ता है वो भी तो थानी का धर्म है दृश्य है जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा हमारी व्याप्ति तो ऐसी व्याप्ति है न करके कहा सिद्धांत में कहता है न स्वप्न दृष्टम अपूर्वम यन मन से स्वप्न में जो दिखाई पड़ता जो अपूर्व जो मानते हो जो मानते हो न तब स्वतः सिद्धम वो स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं है वो अपूर्व ठीक है हमें विकल्प करते हैं जो स्वप्न में अपूर्व दिखाई पड़ता है दो विकल्प खड़ा करके पूछते हैं तद किम स्वतः सिद्धम परत होगा वो जो अपूर्व पदार्थ जो दर्शन होता है स्वप्न में कहते हो वो स्वतः सिद्ध पदार्थ है या परतः सिद्ध है जो घट जैसे होता है स्वतः सिद्ध होता है कि किसी दृष्टा के द्वारा सिद्ध होता है वो दृष्टा के द्वारा सिद्ध होगा नहीं तो कौन जानेगा घट करके स्वतः सिद्ध नहीं जड़ पदार्थ है वैसे वो जो स्वप्न में जो चतुर्दंतादि हाथी गजारूढ़ होना अष्टभुजादि दर्शन होना त्रिनेत्र दर्शन होना वो स्वतः सिद्ध है या परत सिद्ध है परत सिद्ध है ये दो विकल्प है सत्यम वो जो स्वप्न आदर्श अपूर्व दर्शन जो हो रहा है स्वप्न में वो स्वतः सिद्ध है अथवा परत सिद्ध है दूसरी सिद्ध है कि स्वयं सिद्ध है नाद्य स्वयं खंडन करते हैं पहला वाला स्वतः सिद्ध हो नहीं सकता अपूर्व दर्शन स्वतः सिद्ध हो नहीं सकता क्यों जड़ से तद होगा जड़ है वो जो दृश्य जड़ जो होगा उसमें स्वतः सिद्धत्व संभव नहीं हो तो किसी चेतन के द्वारा सिद्ध होता है यह अमुक है करके जानता है चेतन स्वतः सिद्ध नहीं होता जड़ जड़ प्रथम पक्ष नहीं हुआ न तत् इत्यादि कहा हाँ, न तत् स्वतः सिद्धम इत्यादि भाषण कहा था ठीक है द्वितीय तह मिथ्यात्म और परत सिद्ध है तो मिथ्या है जरूर है जो पर दूसरे से सिद्ध होता है वो मिथ्या होता है वो भी स्वप्न दृष्टा से सिद्ध है वो अपूर्व दर्शन द्वितीय तम मिथ्यात्म प्रश्न पूर्वकम आद्य पादम अवतार है प्रश्न पूर्वक जो प्रथम पाद है या अपूर्व दर्शन संबंधी उसको लेते हैं अपूर्वम स्थानीय धर्म ही इत्यादि इसको कहा अच्छा किमतर ही तो पूछा गया क्या है फिर वो स्वतः सिद्ध नहीं है तो क्या हो सकता है तो कहा अपूर्व अपूर्वम स्थानीय धर्म होगी देखो भाई जो अपूर्व स्वप्न में दर्शन होता है स्थानीय का धर्म है स्वप्न दृष्टा का धर्म है स्थानीय धर्म का अर्थ स्थानीय द्रष्टुरे वही स्वप्न स्थानवतो धर्म उसी थानी धर्म का अर्थ किया समास है थानी का धर्म है थानी कौन है स्वप्न दृष्टा ये कहा थानी में द्रष्टु रेवनी जो अपूर्व जो अपूर्व स्थानी धर्म है क्यों स्थानी जो दृष्टु रेव जो दृष्टा का ही एक धर्म है वो स्वप्न स्वप्न स्थान बतो धर्म स्वप्न स्थान वाले का धर्म है यथा स्वर्ग निवासी नाम इत्यादि कहा जैसे स्वर्ग निवासी इंद्रादियों का सहस्राक्षात्वादि धर्म होते हैं उसी प्रकार ये भी धर्म है तथा स्वप्न दृश्यो अपूर्व अयम धर्म इसलिए स्वप्न में स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है स्वप्न दृष्टा का धर्म है स्वप्न दृश्य सष्टंत है स्वप्न दृष्टा का दृश्य शब्द स्वप्न दृश्य धर्म स्वप्न दृष्टा का धर्म है वो ये कहा ठीक है अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्थानीय धर्मत्व दृष्टान्त में साधेगी जो अपूर्व स्वप्न दर्शन है वो स्थानीय का धर्म है दृष्टांत देकर के सिद्ध करते हैं क्या दृष्टांत दिया यथा स्वर्ग निवासी नाम इत्यादि कर कहा जैसे स्वर्ग निवासी देवताओं का सहस्राक्षात्वादि तो स्थानीय धर्म है ठीक है अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्मो भी चैतन्यवत किम न ये अपूर्व दर्शन जो स्वप्न होता है चलो स्वप्न दृष्टा का धर्म है स्वतः देखा नहीं जाता दूसरे से दिखाई देता है दिखाई पड़ता है स्वप्न दृष्टा देखता है उसको स्थानीय का धर्म होने पर भी अपूर्व दर्शन जो स्वप्न में अपूर्व दर्शन होता है स्वप्न दृष्टि धर्म होती स्वप्न दृष्टा का धर्म होने पर भी चैतन्यवत क्यों न चैतन्यवत स्वतः सिद्ध क्यों नहीं माना जाएगा उसके जैसे चैतन्य जो स्वप्न दृष्टा का स्वतः धर्म है अपना धर्म है उसी प्रकार उसको भी अपना धर्म क्यों नहीं माना जाए चेतन का ही धर्म क्यों नहीं माना जाए चैतन्यवत जैसे चैतन्य चेतन का स्वभाव है खानी है वो ठीक इस प्रकार उसको क्यों नहीं माना जाए ये शंका है किम नश्याद बाद उपलब्ध मई हम बाद हो जाता है उसका दृश्य का बाद हो जाता है दृष्टा का बाद नहीं होता वही दृष्टा जागृत में आ जाता है वो दृश्य जागृत में नहीं आएगा बाद उपलब्ध है हाँ, अगर दृष्टा का स्वरूप होता है स्वप्न दर्शन तो जागृत में आने पर भी दृष्टा का स्वरूप जो चेतन है चैतन्य है वो लुप्त हो जाता है क्या चैतन्य रहता है तो उसको भी रहना चाहिए था जागृत में सोया हुआ व्यक्ति आता है बाहर तो आदि कहाँ चले गए पता नहीं किंतु अपना स्वरूप उसका होता है चैतन्य का धर्म चैतन्य धर्म नहीं हो चैतन्य धर्म होता तो चेतन को छोड़ नहीं सकता अग्नि कहीं भी चली जाए उसकी उष्णता कभी अग्नि को छोड़ने वाली नहीं क्यों तो उसका धर्म है वो उष्णता रहेगी कहीं नहीं जा सकता तो ये कहा न स्वता इत्यादि कहा न स्वता सिद्धो दृष्टि स्वरूप इत्यादि अच्छा ठीक है कहते हैं आगे उत्तरार्धम विभजते तान एवं प्रेक्षते गत्वा यथई संस्कृत कारिका का जो उत्तरार्ध भाग है उसकी व्याख्या करते हैं तान एवं प्रकारान इस प्रकार के अपूर्व स्वप्नों को देखता है वो चार दांत वाले हाथी में बैठना आठ भुजा वाला आत्मा त्रिनेत्र को देखना इत्यादि देखता है तान एवं प्रकारान अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान चित्त में विकल्पना है केवल कल्पना है जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है वास्तव में सर्प होता नहीं है ठीक इसी प्रकार कुछ चित्त में कल्पना है मन में कल्पना है उसकी कल्पना कर लेता है यही स्वप्न स्थानी का ही धर्म है वो इत्यादि वहां जाकर के स्वप्न स्थान में जाकर के उन विषयों को देख लेता है ठीक है मैं देखें अपूर्वाणाम स्वप्न दृष्टियाणाम स्थानीय त्योति किम आयात है आशंका है अपूर्व चलो स्वप्न दृश्य पदार्थ अपूर्व को अपूर्व है वो स्वप्न में दृश्य है तो स्थानीय धर्म होने पर भी थानी नहीं है थानी नहीं स्थानीय के धर्म है ऐसे मानने पर भी किम आया पे क्या सिद्ध हो गया हमने तो कहा कि उसको सत्य है हम ये बोल रहे हैं स्थानीय धर्म है ठीक है मानते हैं किंतु तो सत्य है वो तो क्या आया इसमें तथा तो तस्मात इत्यादि व्यासन कहा तस्मात स्थानीय नाम रज्जु सर्प मृग तृष्णादि नाम असत्वम जिस प्रकार दिखाई पड़ा खानी का जो धर्म होता है जैसे रज्जु में सर्प रज्जु का धर्म है क्योंकि उसका ज्ञान काल में कल्पना हो जाती है इस प्रकार मृग कृष्ण का जो जल भाषणा है मरुभूमि में वो मरुभूमि का धर्म है अज्ञान के कारण भाषणा है ठीक इसी प्रकार जैसे असत हैं हाँ, रज्जु सर्पादी जैसे असत हैं तथा उसी प्रकार स्वप्न दृश्याणाम अपूर्वाणाम जो स्वप्न में दृश्य जो अपूर्व हैं जो भी अपूर्व पदार्थ है सब स्थानीय धर्मत्व एवं असत्वम वो भी स्थानीय का धर्म होने से असत है जो स्थानीय धर्म होता है वो असत होता है जैसे मृग तृष्णांक आदि में रज्जु सर्प आदि में देखा है ये भी असत्य है कहा अतो न स्वप्न दृष्टांत से अशुद्धत्व इसलिए साध्य विकल नहीं है अनुमान में जागृत मिथ्या दृश्यत्वात स्वप्नवत इसमें दृष्टांत में साध्य विकल नहीं है दृष्टांत में साध्य है असत्व है अगर वहां सत्य होता तब अनुमान में गड़बड़ी होती हम गड़बड़ नहीं है यही कहा ठीक है स्वप्न दृष्टान्त से साध्य विकलत्व अभाव निगमय थी स्वप्न दृष्टान्त को साध्य विकलता दोष दिया था गुरुवादी ने उसका अभाव के समापन करते हैं निगमन करते हैं साध्य का अभाव नहीं है साध्य विकल का अभाव है माने साध्य अभाव का अभाव है माने साध्य है ये समापन करते हैं अतो इत्यादि भाष्य में कहा ठीक है जागृत भेदान ठीक है पूर्व से अपूर्व से बात चाहे पूर्व स्वप्न हो चाहे अपूर्व स्वप्न हो दो प्रकार के स्वप्न हो गए मैं एक सपूर्व होगा एक अपूर्व होगा जागृत में देखे सुने पदार्थों को वहां स्मरण होना वो है सपूर्व और एकाएक वही दिखाई पड़ते हैं जो वस्तु अपूर्व एक भाष्य में एक टीका में कहते हैं पूर्व से अपूर्व से वा चाहे वो पूर्व वाला हो या अपूर्व वाला दोनों स्वप्न कोई भी हो पूर्व से अपूर्व से वा स्वप्न दर्शन से जो दोनों में कोई भी स्वप्न दर्शन हो स्वप्न दृष्टि धर्म स्वप्न दृष्टा का ही धर्म है चाहे सपूर्व हो चाहे अपूर्व हो दोनों के दोनों स्वप्न दृष्टि धर्म स्वप्न दृष्टा का धर्म होने से तद अविद्या तत्वार कोई स्वप्न दृष्टा का अज्ञान ने दिखाया उसको स्वप्न दृष्टा का जो अज्ञान है अगर अपने अपने स्वरूप में कल्पना नहीं करता स्वरूप में कल्पना कर रहा है जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प की कल्पना होती है उसी प्रकार वहां पर अपने को रूपांतर में देख रहा है स्वप्न दृष्टा एक तद विलसित तत्वाद उस स्वप्न दृष्टा के अज्ञान से प्रकट है अपराध होने से दृष्टान्त साध्य संप्रतिपत्ति दृष्टान्त में साध्य की सिद्धि हो गई अभी निर्विवाद हो गया इसलिए तथा जागृत भेदाना मिथ्यात्व जैसे स्वप्न असतय सिद्ध हो गया ठीक इसी प्रकार जागृत विषय भी जितने मिथ्या है ये सिद्ध हो जाता है ये कहा आगे टीका में जागृत दृश्याना मिथ्यात्व केशु सदसत विभाग प्रतिभान विरुद्ध इतिहासम दृष्टान न समाधत्य पूर्वादि एक और हथियार लेके आता है महाराज जागृत विषयों को मिथ्या कहना बनता नहीं या दो प्रकार के विषय दिखाई पड़ते हैं एक सत्य एक असत ऐसे व्यवहार होता है रज्जु सर्पादी को असत कहते हैं और घटपट आदि को सब कहते हैं दो प्रकार के मिथ्या हो तो एक ही प्रकार होना चाहिए दो प्रकार के विषय हैं चलो स्वप्न तो मिथ्या हो कोई बात नहीं किंतु यहाँ के पदार्थ दो भाग में बंटवारा बांटे गए हैं तो सदरूप में घट को मठ आदि को ये शरीर आदि को कौन असत मानेगा सब मानता है रज सर्प आदि को असत मानते हैं दो प्रकार के अगर जागृत को मिथ्या कहेंगे तो ये विभाग नहीं होना चाहिए दो विभाग सद असत विभाग नहीं होना चाहिए किंतु विभाग हो रहा है इसके मतलब जागृत मिथ्या नहीं है ये पूर्वादि का तर्क है जागृत दृष्टिया नाम मिथ्यात्म जागृत दृश्यों को जो मिथ्या बोल रहे हैं आप जागृति विषय मिथ्या कहने में केशु सदसद विभाग प्रतिभान विरुद्ध मिथ्यात्व में विरोध करेगा कौन उन विषयों में तेसु विषयसु जागृत के विषयों में सत और असत का विभाग जो हो रहा है उसका जो ज्ञान हो रहा है विभाग का ज्ञान प्रतिभान विरोध हम विरोध हो जाएगा असत मानेंगे तो समान होना चाहिए यहाँ दो विभाग है सत असत दो भाग में बांटा जा रहा है व्यवहार हो रहा है तो असत हो तो एक ही तरह होना चाहिए किंतु यह दो तरह का व्यवहार है यही व्यवहार बात कर रहा है कि जागृत मिथ्या नहीं है ये पूर्वादि की शंका है जागृत नाम मिथ्यात्व जागृत दृश्य पदार्थों मिथ्यात्व तेषु उन जागृत के विषयों में विशेषु सदसद विभाग प्रतिभान विरुद्ध सदसद विभाग का जो ज्ञान होता है प्रतिभान होता है उससे विरुद्ध हो जाता है इसलिए इसको मिथ्या कहना बनता नहीं ये पूर्वादि की शंका है दृष्टांत ने समा देते कहते हैं भाई स्वप्न में भी दो तरह का व्यवहार होता है दोनों को सत्य मानते कि मिथ्या मानते हैं मिथ्या ही मानते हैं वैसे ही यहां भी ऐसे ही कहेंगे अभी स्वप्न में भी दो तरह का व्यवहार होगा एक केवल चित्त मात्र में कल्पना होगी और एक इंद्रियों के माध्यम से कल्पना होगी वासना में इंद्रिया तो है ना वहां दो तो तरह के व्यवहार वहां भी होता है एक काल्पनिक और एक व्यावहारिक वहां के हिसाब से दो प्रकार के पदार्थ वहां भी होते हैं तो जैसे वो दोनों मिथ्या है वैसे जागृत वाले भी दोनों को दोनों मिथ्या यही घोषित करना है टिप्पणी तीन की केसु माने सुक्ति रूपये घटादिशु उन विषयों में भेद है पूर्वादि बोल रहा क्या है सुक्ति रूपये में असत्व है सृष्टि में चार भाग और आदि में सत्व है इसमें जो ज्ञान होता है यही विरोध कर जाता है जागृत को मिथ्या कहने मिथ्या में तो समान होना चाहिए विषय भिन्न है यहाँ ये पूर्वादि की शंका है एक तो भाष्य है कारिका है ये सिद्धांत की ओर से कारिका है बोलते हैं स्वप्नवृत्त स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद्दृष्टं वैतथ्यमेतयोः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद्दृष्टं वैतथ्यमेतयोः वृत्त अभी स्वप्नवृत्ति में भी जहां स्वप्नवृत्ति हो रही वहां भी दो प्रकार से विषय वास्ते हैं तू स्वप्न स्वप्नवृत्तो अभी तू वहां भी तो देखो अंत अंतस्यतसा कल्पितम तो असत केवल वहां भी दो हो जाता है कभी कभी व्यक्ति बोलता है स्वप्न में एक दूसरे से बात करेगा आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा स्वप्न में स्वप्न की बात करता है उस समय वो अपने को जागृत समझता है आज मैंने स्वप्न में ऐसा देखा ऐसा बोलता है तो वो जो पदार्थ है केवल मनोकल्पित है केवल मन से कल्पना हो जाती है वहां भी एक पदार्थ ऐसे हैं विषय ऐसे हैं खाली मन से ही कल्पना और दूसरा इंद्रियों के माध्यम से कल्पना करता है है तो कल्पना ही है दोनों स्वप्न मानी इंद्रिय सहित होकर व्यवहार करता है दो प्रकार है एक कहा स्वप्न वृत्तोपी को अंत चेतसा कल्पितम तो असत जो केवल चित्त मात्र से कल्पना करता है चित्त के भीतर ही कल्पना करता है वो असत है और बहिश्चेतो गृहित हम जो चित्त से बाहर गृहित है माने इंद्रियादि के माध्यम से गृहित होता है काल्पनिक इंद्रिया है वहां माने इंद्रिय के बिना भी ग्रहण करता है कभी कभी खाली चित्त में कल्पना और कभी इंद्रिय सहित होकर के कल्पना करता है सत उसको सत कहा जाएगा उस काल में सत कहा जाएगा किस काल में स्वप्न काल में एक असत एक सत दो व्यवहार होगा वहां जब स्वप्न में कोई व्यक्ति बोलता हो मैंने आज स्वप्न में ऐसा देखा तो वो जो अब मैंने देखा कहने वाला अभी जागृत में मानता है अपने को क्या मानता है अपने को जागृत में मानता है और जो देखा गया उसको स्वप्न समझता है ऐसा बोलता है तो वो केवल पहले वाला देखा वो मनोमात्र में कल्पित है और मैंने अभी देखा करके बोलने वाला वो इंद्रिय सहित होकर के बोल रहा है स्वप्न में कल्पना काल्पनिक इंद्रिया है तो दोनों के दोनों वो है क्या है दृष्टम वैतथ्यम एक ये दोनों के मिथ्यात्व ही देखा है चाहे सदरूप में देखा हो चाहे असद रूप में देखा हो चाहे मनमात्र से देखा हो चाहे इंद्रिय विशिष्ट होकर के देखा हो स्वप्न के वस्तु दोनों के दोनों असती है ये तय तो हो सद असत हो जो सत असत रूप में देखा गया पदार्थ जो विधे मिथ्या ही है वैतथ्य ही है ये दोनों में तथा ही है मिथ्या ही है ठीक इसी प्रकार जागरण में आगे बोले यहाँ भी केवल घटू सर्पादी जो है मनोमात्र कल्पित होता है वह असद व्यवहार हो रहा है और घटपट आदि कल्पना जो होती है इंद्रिय सहित होकर के कल्पना करता है यहाँ सद व्यवहार हो रहा है किंतु जैसे स्वप्न में सत असत दोनों असत है मिथ्या है ठीक इस प्रकार यहाँ भी है कोई आपत्ति नहीं ऐसे अगले कार्य का बताएंगे ये दृष्टांत बना रहे हैं ठीक है श्लोक से तात्पर्य श्लोक के तात्पर्य बताते हैं अपूर्वत्व आशंका निराकृत्य स्वप्न दृष्टान्त स्वप्न दृष्टांत में अपूर्वत्व की आशंका की निराकरण किया सिद्धांत ने पहले पूर्वकारी का माने उसने कहा था सत है तो उसको दृष्टांत बना करके कैसे जागृत को मिथ्या घोषित करेंगे आप कहा था उसको कह दिया कि अपूर्वत्व अपूर्वत्व आशंका पूर्ववादी की शंका थी अपूर्व है स्वप्न में दर्शन होने वाला अपूर्व है कहा वो शंका को निराकरण करके खंडन करके स्वप्न दृष्टांत है स्वप्न दृष्टांत के जो शंका संबंधी दृष्टांत खत्म करके पुनः फिर स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम प्रपंचना फिर उसी प्रकार स्वप्न के समान ही है जागृत विषय इसी का विस्तार करना है आगे क्योंकि जागृत को एकाएक मिथ्या कहने से कोई मानेगा नहीं बहुत सारी युक्तियां देनी पड़ेगी तभी शायद कोई मान जाए इसमें सत्यत्व बुद्धि ऐसे बैठी हुई है जागृत सत्यत्व बुद्धि है उसको भगाना है इसको लेकर के कई दृष्टांत से समझाना चाह रहे स्वप्न वृत्तों अपनी कहा देखो भाई स्वप्न के काल में भी स्वप्न वृत्ति में भी दो प्रकार के पदार्थ वास्ते हैं एक केवल मन से कल्पना और एक इंद्रिय सहित कल्पना ऐसे हो जाते हैं वहां होने पर भी दोनों को एक ही शब्द से कहा जाएगा असत जगने पर असत शब्द से बोला जाता है कहते हैं ये भाषण क्या है स्वप्न वृत्त भी स्वप्न वृत्ति में भी स्वप्न स्थान है अभी माने स्वप्न स्थान में भी जब स्वप्न काल में बैठा है स्वप्न भ्रष्टा वहां भी सा मनोरथ संकल्पितम असत केवल चित्त में कल्पना चित्त के द्वारा कल्पना मनोरथ मन को दौड़ाते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा कुछ नहीं होगा मनोरथ हम जागृत भी करते हैं मनोरथ कल्पना करते हैं मनोरथ संकल्पिता मनो मनोरूपी रथ से संकल्पित जो ये पदार्थ हैं वो असत माना जाता है वो असत कहा जाएगा स्वप्न और संकल्प अनंतरम स्वप्न समकाल में वह अदर्शनाथ क्यों उसको असत मानना संकल्प के पश्चात स्वप्न काल में नहीं दिखाई पड़ते हो जब तक संकल्प है तभी तक भाजते हैं संकल्प पूरा हो गया वो भी चले गए इसलिए वो असत है स्वप्न वृत्ति स्वप्नकालीन पदार्थ वो असत केवल मनोकल्पित पदार्थ असत हो जाते हैं तत्र मैंने उसी स्वप्न में ही फिर वो तो स्वप्न स्थान में ही है व्यक्ति तत्र स्वप्न ही स्वप्न तत्र स्वप्न उसी स्वप्न में बहिश्चेत गृहितम माने बहिश्चेत माने चक्षुरादि द्वारे में उपलब्ध चक्षुरादि के माध्यम से प्राप्त करता है वहां भी विषयों को काल्पनिक इंद्रिया घटपटादि दर्शन करता है सब कुछ करता है जैसे यहाँ दर्शन होता है वहां भी करता है चक्षुरादि द्वारा उपलब्ध ये वही चेतसा चक्षुरादि के माध्यम इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त करता है उपलब्धम घटादि कौन है घटादि वस्तु है वहां वह सत उसको सत कहा जाता है स्वप्न में दो प्रकार के विषय हो गए एक असत केवल मन से कल्पना करता है मनोरथ मात्र चलता है तो असत और इंद्रिय सहित तो होकर के जब देखता है तो वह सत कहा जाता है इतम असत्व इतम असत्वम यदि निश्चित भी वो स्वप्न में दोनों के दोनों को असत्व निश्चित हो गया होने पर भी सदसत विभाग को दृष्टा असत है करके निश्चित होने पर भी दो प्रकार का विभाग वहां दिखाई पड़ रहा है सत और असत रूप से दोनों ही मिथ्या ही हो होने पर भी दो व्यवहार चल रहा हो, हो जाता है यह सत है असत है एक असत्वम निश्चित भी इस प्रकार असत निश्चय होने पर भी स्वप्न सदसत विभाग को दृष्टा सत असत विभाग वहां दिखाई पड़ रहा है केवल मन से कल्पना मनोरथ करता है असत माना जाता है इंद्रिय सहित होकर के कल्पना करता है तो सत माना जाता है दो प्रकार व्यवहार हो रहा है किंतु दोनों के दोनों असत ही है जगने के बाद कोई नहीं बोलेगा उसको सत है करके राजा राजा बन के घूम रहा था स्वप्न में जगने के बाद अपने को राजा मानेगा क्या असत ही मानता है उभयोरअपी अंत बहिश्चेत कल्पित और वैतथ्य में दृष्टम दोनों के दोनों वैतथ्य चाहे मिथ्या ही देखा है वो चाहे वो असत रूप में देखा हो चाहे सत रूप में देखा हो कहा तो उभयो रि अंत बहिश्चेत कल्पित अं, केवल चित्त से कल्पना किया और इंद्रियों के माध्यम से कल्पना दोनों के दोनों वैतथ्य में दृष्टम वैतथ्य ही देखा गया है मिथ्या ही देखा गया उनको ये तो स्वप्न की बात हो गई ठीक है स्वप्न दृष्टान्त से अपूर्व दर्शन प्रयुक्ता साध्य विकलत्व आशंका परिहृत इतिहास अपूर्वत्व अपूर्वत्व आशंका निराकृत स्वप्न दृष्टान्त ऐसा भाष्य में पंक्ति है उसका अर्थ करते हैं स्वप्न दृष्टान्त से अपूर्व दर्शन प्रयुक्ता साध्य विकलत्व आशंका परिहृत पूर्व में परिहार किया खंडन किया किया पूर्वादि ने शंका उठाई थी स्वप्न जो दृष्टांत आपने दिया वहां अपूर्व दर्शन होकर के साध्य के विकलता दिख रहा है वहां मिथ्यात्व नहीं है सत्य है इसका खंडन कर दिया वो स्थानीय का धर्म है वो स्थानीय नहीं है स्थानीय का स्वरूप नहीं है वो ऐसा करके खंडन कर दिया इतना करने के बाद स्वप्न स्थान है ठीक है स्वप्न स्थान है सर्वस्व मिथ्यात्व अविशेष ये स्वप्न स्थान है सर्वस्व मिथ्यात्व अविशेष आपका ही तत्र स्वप्न दर्शन स्वप्न वृत्तौ अपी यह अर्थ है भाष्य में जो तो स्वप्न वृत्त अपी है उसका अर्थ करता है स्वप्न स्थान में सर्वस्व मिथ्यात्व अविशेष मिथ्यात्व समान होने पर भी दो प्रकार का दाह होता है सत असत ये कहा ये भाषण में कहा था स्वप्न वृत्त अपनी स्वप्न स्थान भी अंतश्चेतसा मनोरथ संकल्पितम असत केवल मन से कल्पना करता है तो असत कहा मानता है और संकल्प अनंतरम स्वप्न समकाल में वह दर्शन वो पदार्थ बाद में दिखाई नहीं देते जब तक संकल्प है तभी तक जीवित है वो उसको असत कहते हैं और तत्र मैंने स्वप्न उसी स्वप्न में फिर बहिश्चेतसा गृहित माना चक्षुरादि द्वारे उपलब्ध जो वस्तु चक्षुरादि के माध्यम से गृहित होता है स्वप्न में ही उसको सत कहते हैं किंतु दोनों के दोनों असत ही निकलते हैं एक कहा ठीक है असत्वम परमार्थ सत विलक्षण मिथ्यात्म ये दोनों असत्व असती है क्यों परमार्थ सत से विलक्षण है जागृत के पदार्थ भी परमार्थ जो सत पदार्थ आत्मा है उससे विलक्षण है असत माने बंध्या पुत्र जैसा नहीं है खाली शब्द प्रयोग होता हो ऐसा तो नहीं है जो यहां पर मिलता भी है खो भी जाता है ऐसे पदार्थ है ये या असत शब्द का प्रयोग इन्हें समझना कि बंदिया पुत्र आदि के समान नहीं समझ रहा तो व्यावहारिक पदार्थ ऐसे हैं परमार्थ ज्ञान से बाधित हो जाते हैं जब आत्मा में पहुंचेंगे आप वस्तु दृष्टि में पहुंचेंगे तो बाधित होंगे एक कहा अच्छा असत्व परमार्थ सद विलक्षण क्यों असत क्यों असत का अर्थ मिथ्या समझना जागृत पदार्थ को असत माने बंध्यापुत्र जैसा मिथ्या जो सदरूप से भी निर्वचन होना मुश्किल है असद रूप से भी निर्वचन होना मुश्किल है सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता ये वस्तु असत हो तो प्रतीति नहीं होना चाहिए प्रतीति हो रही है और सचेत न बात कहता सत्य तो बात नहीं होना चाहिए आत्मा का कोई बात नहीं होता किंतु ये ये प्रतीति भी होते हैं और बाधित भी होते हैं इसलिए मिथ्या कहते हैं ये मिथ्या शब्द की व्याख्या यही है अनिर्वचनीय कहते हैं मिथ्या कहते हैं ठीक है तथापि तरी विभाग प्रति भाष विरोधा कुतो मिथ्यात्म कहते महाराज वहां भी एक सत मानेंगे एक असत मानेंगे जब विभाग हो रहा है वहां भी स्वप्न में भी शंका उसको दोनों को असत कैसे कहेंगे तत्रापि मन स्वप्न की तरी तब तो विभाग प्रतिभा से विरोधा भिन्न विभाग का ज्ञान हो रहा है एक तो सदरूप से ज्ञान हो रहा है एक तो असद रूप में ज्ञान हो रहा है ये विरोध हो रहा है इसलिए कुतो मिथ्या तो मिथ्या कैसे कहेंगे स्वप्न को फिर इतिहास ने कहा बारह विशेषा जैसे जड़ता है दोनों का बाद हो जाता है वहां सत माना था वो भी बाधित हो जाता है असत माना था उसका भी बाध हो जाता है वहां से जग जाते हैं वो उसको असत मानने में हम तैयार हैं किंतु यहां से अभी जगे नहीं है बात है यहां से जगने के लिए आत्मा में बैठना पड़ेगा जब आत्मभाव में पहुंचेंगे तो यहां से जगा हुआ होगा ऐसी स्थिति बाद बाद अविशेषण बाद समान है जैसे स्वप्न का बाद होता है व्यावहारिक सत्ता में आने के बाद ध्यान देना वहां बाद नहीं होगा जब तक स्वप्न में है तब तक बाद नहीं होता जब दूसरे सत्ता में भिन्न सत्ता में पहुंच जाते हैं तब बाद होगा इसका बाद तब होगा जब पारमार्थिक सत्ता में आप पहुंचेंगे जब आत्मा में पहुंचेंगे तब इसका बाद होगा यहां बैठ कर इसका बात करना मुश्किल पड़ेगा आपको स्वप्न में रहते रहते तो स्वप्न का बात नहीं हो पाता अगर इसको बाद देखना है इसका बाद तो अपने आप में बैठिए आप विश्व तेजस राज्य से ऊपर की अवस्था में बैठिए ये तीनों तो सांसारिक स्वरूप है आपके विश्व बने चाहे तयश्वर बने चाहे प्राग्ञ बने उसके ऊपर तुरी अवस्था में वहां पर कोई घटपट आदि मठादि शरीर आदि नहीं बनने वाले नहीं भाषने वाले हैं ये कहा इसलिए कहा उभयो इत्यादि कहा था उभयोरअपी अत्यंत अंत बहिश्चेता कल्पित और वही तथ्य नहीं कृष्ण स्वप्न में दोनों के दोनों को मिथ्या ही देखा गया चाहे चित्त के भीतर कल्पित हो चाहे चित्त के बाहर बने इंद्रियों के माध्यम से कल्पित दोनों मिथ्या देखा कब देखा जगने के बाद देखा ध्यान देना वहां नहीं देखा जब जगा तब समझा ठीक इसी प्रकार यहां से भी जब जगे आत्मभाव में पहुंचे तो बात हो तो मिथ्या घोषित हो जाएगी आपकी दृष्टि में होगी अभी तो दूसरे का अनुभव सुन रहे हैं आप इस काल में दूसरे का अनुभव सुन रहे हैं आप अभी इसी में बैठे हुए हैं जागृत विषय में बैठे हुए हैं दूसरे का अनुभव सुन रहे हैं ब्रह्मवेत्ताओं का ऐसा कहना है आगे टीका दार्टान्तिक दृष्टांत दे दिया स्वप्न में हाँ मान दोनों असत होने पर भी एक में सदव्यवहार एक में असत व्यवहार होता है दो तरह के पदार्थ होते हैं किंतु दोनों होते असत ही है ठीक इसी प्रकार भी अब दार्तांतिक सिद्धांत बताते हैं जागृत में मिथ्या घोषित करने कहते हैं ये बोलना चाहते हैं जागृत वृत्तावपी तम तस्ेतसा कल्पित बहिश्चेतो गृहीत सद युक्त वैतथ्य में तय जागृत वृत्तावी तम तस्ेतसा कल्पित तसत बहिश्चेतो गृहीत सद युक्त तयो जागृत वृत्तौ अपनी जैसे स्वप्न में दृष्टांत दे चुके हैं एक सत रूप में एक असत रूप में व्यवहार होता है किंतु दोनों में लिखा गया असती है ठीक इस प्रकार जागृत वृत्ति में भी तो अंत चेतसा कल्पितम तो असत जो चित्त के मात्र में कल्पना जो होती है मनोरथ आदि जो चलते हैं वो असत वो समझना स्वयं समझ जाता है मनोरथ करने वाला कुछ होने वाला नहीं अपने को राजा मान गया बैठ गया होगा राजा तो चित्त के भीतर ही कल्पना जो होती है उसको असत कहते हैं जागरूक और बहिश्चेतो गृहित मान इंद्रिय विशिष्ट होकर के गृहित घटपटादि मठादि जो दिखाई पड़ रहे हैं इंद्रिय विशिष्ट होकर जो गृहित होंगे सब उत्तम सब कहा जाता है युक्तम वैतथ्य में तो फिर भी ये दोनों में वैतथ्य है मिथ्यात्व तो ही है जैसे स्वप्न में दोनों सता सब मिथ्या है ठीक इस प्रकार ये जागृत के सत असत भी मिथ्या है दो विभाग में हो रहा है यहाँ ये भी असत है ये कहा ठीक है युक्ति युक्तत्व हेतु महा माने वैतथ्य होने के कारण बताते हैं अंतर इत्यादि कहा राष्ट्र में कहते हैं असतो और वैतथ्यम युक्तम एक सत असत के द्वितथा होना सत हो चाहे असत हो दोनों मिथ्या ही है ये कहना ठीक है ये ठीक है तो इसमें कहते हैं युक्तत्व दोनों ही मिथ्या कहने में युक्त क्या है तथा तो हेतु महा अंतर्बहिष चेत कल्पित तत्व विशेष चित्त में कल्पित है एक भीतर है एक बाहर कल्पित है बात यह एक अपने आप में कल्पना करता है एक बाहर में दिखाई पड़ता है अपने से भिन्न होकर देखता है वो चित्त में ही अंतर और बाहर होकर के कल्पित होने से कल्पित तो समान है वो भी कल्पित ये भी कल्पित है दोनों कल्पित है कोई कारण आगे भाष्य में कहते हैं व्याख्या तो मान्य बाकी कारिका को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पूर्व कारिका में जैसी व्याख्या की है नवमी कारिका में वैसे इसके भी व्याख्या समझना और स्वप्न में जैसे एक शत्रु का विभाग एक अशत्रु में विभाग व्यवहार हो रहा था किंतु जगता है तो दोनों को असत ही समझता है मिथ्या समझता है ठीक इसी प्रकार जागृत में वैसे ठीक है श्लोक स्थानाम अक्षराणाम व्याख्यान व्याख्यान अनपेक्षितम व्याख्यात प्रायत्व ये कारिका में स्थित जितने भी अक्षर माने शब्द हैं जितने शब्द हैं उनके व्याख्यान अनपेक्षितम व्याख्यान की अपेक्षा नहीं क्यों व्याख्या तो पूर्व कारिका में इनकी व्याख्या हो गई है समझ जो स्वप्न वाले में जो दिखा दिया था नवे कारिका में वही इसकी व्याख्या समझ लेंगे आगे पूर्वादि शंका करेगा ठीक है सर्वविद्यात्व प्रमात्री प्रमाणादित आभारा विरोध विरोधम आशंक है कहते महाराज सबके सब आप मिथ्या करते हैं उस स्थिति में किस प्रमाण भी काम नहीं करेगा और प्रमाता भी नहीं बनेगा वो भी मिथ्या ही होगा ना सब मिथ्या ही होंगे तो प्रमात्री प्रमाण और प्रमेय जो विभाग चलता है यानी इंद्रियादि के माध्यम से हम अमुक को सिद्ध करते हैं हम होंगे प्रमाण एक प्रमाता और इंद्रिया हमारी हो जाएगी उस काल में एक प्रमाण और विषय हो जाएगा प्रमेय जो त्रिपुटी है अथवा कर्ता करण और क्रिया ये भी नहीं हो पाएगा और सब मिथ्या है किंतु लोग विरुद्ध है लोग भी चलते हैं ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता करण और कार्य फिर ये चलते हैं इसका विरोध होता है मिथ्या कहने में अगर मिथ्या हो तो फिर ये व्यवहार नहीं होना चाहिए एक को प्रमाता बोलते हैं एक को प्रमाण बोलते हैं एक को प्रमेय बोलते हैं इसी प्रकार एक को कर्ता बोलते हैं एक को करण बोलते हैं एक को क्रिया बोलते हैं ये व्यवहार नहीं होना चाहिए यही आशंका करना चाह रहे हैं सर्व मिथ्यात्व प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या के सब मिथ्या मानने पर प्रमाता प्रमाण आदि व्यवहार मान कर्ता कारण आदि व्यवहार भी नहीं होगा और प्रमाता प्रमाण आदि व्यवहार भी नहीं हो पाएगा न होने से विरोधम इसी के विरोध ये विरोध है ये व्यवहार को खंडन नहीं कर सकते प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये व्यवहार चल रहा है कर्ता करण कार्य व्यवहार चल रहा है इसका विरोध है अगर सब के सब मिथ्या हो तो फिर ये व्यवहार नहीं होना चाहिए तो व्यवहार हो रहा है अन्यथा ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करेगा सत्य के बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो पाएगा सबके सब मिथ्या ही हो तो प्रमा, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार कैसे होगा टिप्पणी दो नंबर की टिप्पणी अनुपत्या विशेषण प्रमात्रादि व्यवहार अन्यथा अनुपन्ना सन सत्यत्व आपादयती अर्थापत्ति विरोध हो विरोध क्या है अर्थापत्ति प्रमाण का विरोध है अर्थापत्ति प्रमाण आक्षेप सिद्ध तो होता है क्योंकि प्रमात्रादि व्यवहार हो रहा है एक प्रमाता होता है एक प्रमाण होता है चाहे अनुमान प्रमाण से सिद्ध करेगा चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करेगा चाहे शब्द प्रमाण से सिद्ध करेगा चाहे उपान से सिद्ध करे चाहे अर्थापत्ति से सिद्ध करे चाहे अनुपलब्धि से सिद्ध करे जो प्रमाण देने वाला होगा वह प्रमा, प्रमाता बन जाएगा और जिस प्रमाण से सिद्ध करेगा वो प्रमाण होगा छह में से एक प्रमाण शास्त्र में छह प्रमाण की चर्चा है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति अनुभव ये छह प्रमाण की चर्चा है तो प्रमाण देगा और जो उस प्रमाण से जो सिद्ध होगा उसको प्रमेय कहते हैं ये व्यवहार बात कर देता है सब मिथ्या होते व्यवहार नहीं होना चाहिए त्रिपुटी का व्यवहार चल रहा है इधर कर्ता करण कार्य व्यवस्था चल रही है ये करता है उसके सता साधन है करने वाला साधन है जैसे लिखना हो तो कलम साधन बन जाए काटना हो तो कुलाड़ी साधन बन जाए करण है और क्रिया हो रही है तब तक क्रिया भिन्न भिन्न क्रिया होती है ये भी ये अर्थापत्ति है अगर सब मिथ्या हो तो ये नहीं होना चाहिए ये हो रहा है इसका मतलब मिथ्या नहीं यह अर्थापत्ति ये देना है समय हो गया ये रख ओम भद्रम कर्णे भद्रम पश्येनाक्षेयता ओम शांति